अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूत नहीं जो सदा जिंदा है जो पूरी कायनात संभाले हुए है जिसको न कभी ऊंग लगती है न नींद आसमानों में जो कुछ है वो भी और जमीन में जो कुछ है वो भी सब उसी का है कौन है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके वो सारे बंदों के तमाम आगे पीछे के हालात को खूब जानता है और वो लोग उसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय उस बात के जिसे वो खुद चाहे उसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और ज़मीन को घेरा हुआ है और इन दोनों की निगरानी से उसे ज़रा भी बोझ नहीं होता और वो बड़ा आली मकाम साहिब असमत है